और जो दुआ करते हुए कहते हैं कि हमारे परवरदिगार हमें अपनी बीवी बच्चों से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का सरबराह बना दे